संपन्न किया देखिए योग शिक्षण में टिकाने बताने का ढंग पद्धति प्रवचन की शैली से कुछ भिन्न होती है प्रवचन में धारावाहिक बोलता है व्यक्ति और बहुत से प्रश्न भी नहीं उठाता बात भी प्राय नहीं पूछता पर योग के प्रशिक्षण में पूछना बताना प्रश्न उठाना ये व्यक्ति को सिखाया जाता है इसलिए आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि ये क्या प्रवचन हुआ कई बातें छेड़ दी फिर उनको बताया फिर दूसरे ढंग की बातें छेड़ दी तो प्रशिक्षण जो होता है सिखाई जो चीज जाती है उसमें यह शैली होती यदि ऐसी शैली न अपनाई जाए तो फिर प्रशिक्षण विशेष नहीं होता कुछ आपसे पूछना भी पड़ेगा कुछ सीधी बातें पूछी जाती हैं साधकों से और यहां आकर के व्यक्ति अपनी भूल को सबके बीच में बताने का अभ्यास करता है मैं एक प्रश्न उठाता हूं क्या आप सबके बीच में अपनी भूल को स्वीकार कर सकते हैं जो कर सकते हैं हाथ खड़ा करके दिखाएं सबके बीच में अच्छा कुछ लोग हैं सारे नहीं अच्छा आप बहुत थोड़े हाथ हैं इनके उठाने वाले तो एक सुधरने की बात है जो व्यक्ति जितना जितना सबके बीच में अपनी भूल दोष स्वीकार करता जाएगा उतना उतना वो व्यक्ति उन्नत होता जाएगा कभी भी प्रयोग करके देखो इसका और ये भी अभ्यास की बात है आजकल माता पिता गुरु और राजा प्रजा इन बातों को प्राय सिखाना नहीं चाहते बल्कि इनको बुरा माना जाता है इन बातों को खराब समझते और अभ्यास ये पड़ गया व्यक्ति के गुणों को खूब सुनाओ वो बड़ा आनंद का अनुभव करता है और दोषों को यदि कोई सुनाता है तो उसका अत्यंत विरोध करता है भारतीय परंपरा है कह देते हैं लोग दोषों को सुनो दोष बताने वाले को अपना उपकारक मानो कहते हैं पर आप याद करेंगे ढंग पद्धति देखेंगे हृदय से स्वीकार करने वाला व्यक्ति हृदय से स्वीकार करने वाला है जैसे कि गुणों को स्वीकार करता है हजारों में एक व्यक्ति मिलना कठिन है आप अभ्यास करते हैं काशीराम भवन में एक शिक्षण शिविर चला तो काशीराम भवन में ये आत्मनिरीक्षण भी चलता था तो उसमें एक युवक थे पढ़ने वाले थे शायद तो आत्मनिरीक्षण जब होता तो इधर बच जाते उधर बच जाते बीच में आते ही नहीं आया बड़ी कठिनाई से सुन सुना के वो कहा गया वो व्यक्ति जैसे तैसे करके उसको लाते फिर वो सुनाने लग गया फिर सुनाने लग गया फिर दो चार अंतिम दिनों में वो कहता है अब तो मुझे बड़ा आनंद आता है दोस्त सुनाने में जो व्यक्ति इतना भयंकर डरता था ये तो संस्कार डाल दिए जाते व्यक्ति के ऊपर ये माताएं बच्चे को कैसे बिगाड़ती हैं तू बहुत अच्छा है सबसे अच्छा तू ही है दुनिया में आप देखेंगे बच्चे को नहीं देखा आपने और वो व्यक्ति कुप्पा होता जाता है बालक और फिर उसको कोई बुरा कह दे तो बस गाली देने लगता है ऐसा आप देख सकते हैं और आप भी आप प्रयोग करके देख लो आप जब दूसरे के दोष बताते हो और दूसरा सुनता है तो उस समय जो दोष सुनने वाला व्यक्ति है वो प्राय हृदय से नहीं सुनता ये ऐसा क्यों अज्ञानता से होता है वास्तविकता ये है दुनिया में संसार में दोष जो बताता है वो व्यक्ति वो हमारा हितेशी है और दोष बताने वाले का उपकार मानना और दोष सुनकर के आनंद का अनुभव करना दोष सुनकर के सुनना और प्रयास करना स्थिति का अनुभव करिए आप एक व्यक्ति ऐसा देखने को मिलता है यदि उसके गुणों का गायन करते जाओ तो आपको बहुत अच्छा मानेगा खूब दुगना तिगना बढ़ा के कहो तो आपको महापुरुष कहना शुरू कर देगा वो व्यक्ति ऐसा मिलेगा एक बार और यदि उसका आप दोष कह देंगे तो मन मिटने के लिए तैयार हो जाएगा एक वर्ग ऐसा मिलेगा लोगों में आगे बढ़े अनुभव करें आप एक वर्ग ऐसा भी मिलेगा जो अपने दोषों को सुन तो ले लेगा बाहर से तो ये कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया मेरा दोष बताया है और अंदर से दुखी होगा कुछ अनुभूति होती है आपको या नहीं आप अपनी स्थिति का अध्ययन करते चले जाइए आप में मिलेंगी ये सारी बातें लगभग किसी में कुछ न्यून अधिकता हो जाए अलग बात है पर यही चीजें मिलेंगी जो कि फिर से सुनिए वो व्यक्ति बाहर से तो ये कहता है आपने मेरा दोष बताया बहुत अच्छा किया पर अंदर से कहते बड़ा खतरनाक व्यक्ति है अंदर से उसके मन में हृदय में ये बात नहीं बैठती अजय आप मुझे कोई ऐसा अनुभव करता है क्या बताओ करता हो तो कोई जी नहीं करता देखो महापुरुषों का अनुकरण करो सत्पुरुषों का अनुकरण करो महर्षि दान सरस्वती जी की बात आती है कि वो प्रवचन दे रहे थे अशुद्ध वाक्य निकल गया अशुद्ध है निकल गया तो किसी ने कहा कि आपने स्वामी जी अशुद्ध बोल दिया उसने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है मैंने तो अशुद्ध बोल दी फिर बताया जाता है जैसी कथा सुनते हैं जैसी सुनते हैं वैसी सुना रहा हूं बताया जाता है फिर कहा कि स्वामी जी आपने अशुद्ध बोल दिया मैंने कहा हां भाई मैंने अशुद्ध बोल दिया अशुद्ध था ये तो फिर वो कहता ही गया और दिखाता गया जैसे लोगों को कि बहुत बड़ा व्याकरण का विद्वान है तो स्वामी जी कहने लगे देखो मैंने स्वीकार कर लिया है अशुद्ध था और यदि तू अधिक अच्छा करेगा तो मैं इसको शुद्ध करके भी दिखा सकता हूं है तो फिर दूसरी घटना हम सुनते हैं ऋषि की एक बार वो ये कहते कहते बोलते बोलते ये कह गए हम हिंदुओं को ये कह गए बताते हैं वो आता ना फिर वो कहते नहीं नहीं मैं भूला हम आर्य हो उसी में दोष हो गया दोष को स्वीकार कर लिया इसलिए इस रूप में जो दोष स्वीकार करता है वो महापुरुष बनता है वही योगी बनता है वही तत्ववेता बनता है वही मोक्ष का अधिकारी है आज तो लोगों ने मुक्ति के लिए भी छुट्टी दे दी झूठ बोलने की फलाने ने झूठ बोला फलाने ऋषि ने झूठ बोला माँ बाप की झूठ और वो झूठ बोलते हुए मुक्ति में चले गए इतना झूठ का प्रचार तो किसी व्यक्ति को महापुरुष बनना है किसी व्यक्ति को योगी बनना है किसी व्यक्ति को मनुष्य पन को प्राप्त करना है यदि मन इंद्रियों को जीतना है यदि विद्वान बनना है ईश्वर उपासक बनना है तो ये मान्यता जो की तो माननी पड़ेगी इसमें कोई ननुनच नहीं है दुख मानने का प्रसंग नहीं है यहां तो ये व्यक्ति देखता है कि जो दोष है वह दोष है और जो मैं दोष को मानता रहूंगा तो निश्चित बात है कि दोष को दूर करके छोड़ूंगा यदि दोष को थोड़ा सा भी आपने जगह दे दी तो दोष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आप में से कई बार देखा गया वो व्यक्ति उत्तेजना करता है क्रोध आ जाता है गुस्सा आ जाता है घरों में भी कई बार मैं जाता हूं और परिवार को उपदेश देता हूं और वह कहता हूं माता जी अथवा उनको बोलता हूं आप में से क्रोध कौन करता है तो वो इस रूप में कम बोलते हैं वो ये नहीं उत्तर देते स्वामी जी मैं क्रोध करता हूं और ये दोष है आज ये मैं ध्यान दूंगा ये भाषा नहीं बोलते वो क्या भाषा बोलते हैं स्वामी जी ये तो स्वाभाविक है दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे वो और देखिए वो देखो ये दोष की पुष्टि दोष की पुष्टि अपने पैर में कुल्हाड़ा मारना हो तो ये भाषा बोला करो अच्छा हम भी कई बार उसका खंडन उसका भी कर देते हैं हम एक परिवार में ऐसे ही उत्तर दे दिया मैंने कहा पति पत्नी लड़ा मत करो झगड़ा मत करो तो उनकी पत्नी कहती है देखो स्वामी जी दो दो बर्तन दो पात्र रखेंगे वो तो खटखटाएंगे कभी भी मैंने कहा मूर्खतापूर्ण जो रखे होंगे पात्र वही खटखटाएंगे जो ठीक रखे होंगे वो नहीं खटखटाएंगे <laughs> वो कहा जाएगा बात करके अच्छा दूसरे की शैली और सुन लो वह कहता हां स्वामी जी गुस्सा तो आता है थोड़ी देर आता है उसे क्या है मन का आग थोड़ी देर लगेगी कुछ वाग को तो जरूर जलाएगी भाई आग कितनी लगेगी कुछ ना कुछ जलाएगी वो अब ये कुतर्क कहलाते हैं सारे के सारे कुतर्क का क्षेत्र है जो दोष बढ़ाने के ढंग से बात छेड़ी जाती है वो कुतर्क के क्षेत्र में सारी चीजें कुत्ता रखे सारी अच्छा आपसे हम कहते हैं कई बार आप बोलना सीखो गुरुओं के साथ बात करना सीखो आपको बोलना नहीं आता कैसे बोलना नहीं आता मैंने कहा ऐसे नहीं आता कोई बात पूछनी होगी तो कैसे बोलते हैं स्वामी जी हाँ ये बात बताओ आप, आप देखेंगे कि हम कहेंगे ये भाषा ठीक नहीं है ठीक क्या नहीं है सीधी सीधी तो बात कही है मैंने आप देखेंगे बेतुकी तो बातें करता चला जाएगा पांच दस मिनट खोएगा वो मानने के लिए तैयार नहीं और फिर कहेंगे देखो जी स्वामी जी नाराज हो गए सीधी सारी बात पूछी थी आगे बढ़ा देगा वो अच्छा उसको कैसे सुधारते अच्छा स्वामी जी मुझे कैसे बोलना चाहिए हम कहेंगे देखो ऐसे बोलो स्वामी जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप मुझे कब बता सकेंगे या मुझे समय मिलेगा ऐसे यहां से आरंभ करो ऐसे आरंभ करो पूछने का ढंग शैली पद्धति है और फिर ऐसे पूछा करो अब आप लोगों को यहां के सच सिखाते हैं और बड़े पक्के दिमाग के होते हैं और कई लोग तो बात बात करने में गाली देने लग जाते हैं और कह के गाली की देते हो एक गाली और देता है और कहता मैं सब गाली देता हूं वो व्यक्ति गाली देता है बात बात में गाली तो ये बात याद रखिए जो व्यक्ति दोषों की पुष्टि करेगा थोड़े से अंश में भी जो व्यक्ति दोषों की पुष्टि करेगा वो कभी दोषों से नहीं छूटेगा अपने दोषों का शत्रु बन के रहना चाहिए व्यक्ति को पक्का शत्रु व्यक्ति भूल ये करता है कि दुनिया की आलोचना करना दुनिया के दोषों को देखना उनका खंडन करना अपने दोषों को छिपाते रहना उनको आगे ही नहीं आने देना कोई कहे तो उसका शत्रु बन जाना इसमें तो दौड़ धूप करता है व्यक्ति परंतु ये सुधरने की शैली नहीं है सुधरने की पद्धति यह बिल्कुल नहीं है आप किसी भी दोष को देखो अपने अंदर उसका विरोध करो अपने दोषों का विरोध करने से अपने जो दोष है कम होते जाते हैं देखिए व्यक्ति जिस चीज से प्यार करता है उसकी ओर आकर्षण होता है कभी देख लेना आप आप यदि अपने दोषों से प्यार करते हैं तो आकर्षण होगा आप दूर हो नहीं सकेंगे अपने दोषों से आप घृणा करते हैं तो छुटकारा मिलेगा इसलिए यह प्रशिक्षण की बात है कि अपने दोषों को देखना और फिर उनको दूर करने के लिए प्रयास करना वो जो मैं सुना रहा था वो आगे बढ़ाएंगे थोड़ी सी बात में क्या थी वो वो व्यक्ति बाहर से दोषों को स्वीकार करता है हृदय से दुखी हो जाता है एक व्यक्ति हृदय से भी जो है दुखी नहीं होता सुन लेता है हृदय से भी सुखी ही रहता है स्वीकार कर लेता है पर उससे क्या दोष होता है उससे ये दोष होता है कई बार जब उसके ऊपर कोई मिथ्या आरोप लगा देवे कोई बात आ जाए तो उसका सहन नहीं कर पाता हूं देखिए एक सीमा बनाई हमने जहां तक दोष बताने का प्रसंग है वहां तक तो व्यक्ति सह लेता है यह अच्छा अभ्यासी व्यक्ति है जो मैं सुना रहा हूं जिसने बहुत अच्छा अभ्यास किया है अपने दोष को परमाणु से सिद्ध होने पर वो स्वीकार कर लेता है बिल्कुल दुखी नहीं होता ये ऊंचा स्तर है अच्छा स्तर है व्यक्ति का इतना अभ्यास हो जाना ऊंची बात है परमाणु से सिद्ध दोष को स्वीकार कर लेता है पर इसमें एक ढीलापन का अंश सुनाता हूं मैं आपको परमाणु से सिद्ध दोष को स्वीकार तो कर लेता है और फिर उसको हटाने के लिए पूरा पुरुषार्थ नहीं करता इसके साथ ये दोष जुड़ा हुआ रहता आपको ये बताया ये जूते पंक्ति में निकलने चाहिए क्या मुझे बुरे लगते हैं कोई ऐसे मुंह है किसी का वैसे मुंह है आप में लगभग शायद स्वीकार करेंगे कि जूते पंक्ति में रहने चाहिए क्यों जी बोलो स्वीकार है ना जी अच्छा कितने लोग पंक्ति में मदद क्या यार आप देख ले ध्यान दो भाई मोटा दृष्टान दिया मैंने तो कोई शादी का विरोध नहीं कर रहा होगा या कोई विरोध कर रहा हो तो बताओ कोई भी तो नहीं दिख रहा कोई बच्चा भले ही कह दे पर आप याद रखिए ये वो दोष है दोष तो मान लिया पर वो पंक्ति में रखता ही नहीं मान तो लिया बिल्कुल हर्ष है उसको कोई शोक नहीं हम ही बिल्कुल ठीक बात है पर एक एक चुटकला अथवा एक दृष्टांत अथवा एक रोचक बात सुनाया करते हैं हरियाणा की भाषा में बताया गया कि भाई ये जो छत का पानी पड़ता है वो जिससे पड़ता है पहले मिट्टी के लगाते थे ऐसे लंबे लंबे बना चुके पतनाल बोलते थे पतनाला बोलते थे उसको पतनाला तो पतनाला बोलते थे तो भाई आपस में घर मिले जुले होते हैं किसी के आंगन था वहां बीच में और दूसरे का पतनाला आंगन में पड़ता था कट जाती है भूमि ऊपर से छत का पानी जो गिरता है पतनाले धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ तो भूमि गड्ढा हो जाता है वर्षा में उसने व्यक्ति ने बहुत समझाया कि भाई तेरा पतनाला मेरे आंगन में पड़ रहा है इसको थोड़ा सा बदल दो इस और उधर वो माना ही नहीं तो पहले पंचायत से निर्णय बहुत होते थे पंचायत होती थी गांव की बिना ही सरकार के बहुत से निर्णय करती थी मोटे मोटे तो बताया गया भाई पंचायत को बुला लिया गया और ये प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे पड़ोसी का जो पतनाला है हमारे आंगन में पड़ता है भूमि कट जाती है धूल धमाल हो जाती है कीचड़ हो जाता है मैं ये चाहता हूं इसका मुंह इधर उधर हो जाए और जो जिसका पतनाला था वो कह लिया बात बिल्कुल ठीक है पंचायत की बात शर्मा था पर पतनाला वहीं पड़े पंचायत की बात शर्मा थे पर पतनाला वह आपका पतनाला वहीं पड़ेगा अब भोजन के समय घंटी बजेगी हाँ भाई प्रस्ताव करो क्या करोगे भाई पांच मिनट में व्यक्ति पंक्ति बजा के बैठ जाना चाहिए अब आप मुझे दो तीन वहां मिलेंगे सारे यहां मिलेंगे पांच मिनट में पतनाला और ये व्यक्ति है इसके संस्कार होते हैं पतनाले को डालने वाले संस्कार जो है बुरा संस्कार अज्ञान को पैदा करता है ये कभी देख लेना मिथ्या अशुभ कुसंस्कार अज्ञान को पैदा करता इसलिए अज्ञान की जड़ें कुसंस्कार के साथ रहती है कुसंस्कार किसी भी विषय का होगा वो अज्ञान को पैदा करता है और अज्ञान अधर्म आचरण को पैदा करता है और अधर्म आचरण का परिणाम दुख होता है ये श्रृंखला जो की त्यों बनेगा जहां अज्ञान होगा वहां अधर्माचरण जरूर होगा और जहां अधर्माचरण होगा वहां कलेश दुख अशांति विघ्न बाधाएं जरूर हों ये तीनों एक पंक्ति में रहते हैं अज्ञान होते हुए अधर्म ना हो यह नहीं हो सकता अज्ञान और अधर्म होते हुए दुख ना हो यह नहीं हो सकता तीन और इसके विरोधी जहां सत्य ज्ञान होगा वहां सत्य आचरण धर्म आचरण होगा और जहां धर्म आचरण होगा सत्य आचरण होगा वहां आनंद शांति उन्नति निश्चित रूपेण होगी ये भी श्रृंखला तीन की तो इसलिए ये जो हम जो पुरुषार्थ करते हैं हमने दोष तो मान लिया दोष मानने के पीछे जो टक्कर लेनी पड़ती है अपने संस्कारों से कुसंस्कारों से वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत युद्ध करना पड़ता है साधारण युद्ध से काम नहीं चलता ये मन जैसी चीज को जीत लेना आंख नाक हाथ को जीत लेना अपने अधिकार में कर लेना ये अत्यंत परिश्रम साध्य होते हैं सब एक बात याद रखिए जो व्यक्ति दोषों को स्वीकार करता है उसके साथ में जो दोष आता है कि वो पुरुषार्थ नहीं करता ये यदि पुरुषार्थहीन रहेगा व्यक्ति तो दोषों को मानता हुआ भी उन्नत नहीं हो पाएगा कभी कभी भी उन्नत नहीं होगा सहन शक्ति की बात आगे बढ़ाऊंगा मैं थोड़ी सी व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति कितनी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति दोषों को बताता है प्रमाण सिद्ध है तो मान लेना बहुत अच्छी बात है पर कई बार भूल से अज्ञानता से कई बातें वो हमारे ऊपर मिथ्या आरोपित कर देता है उसके भी दो तीन भाग हैं एक तो भूल से वो कहता है ऐसी बात भूल से उसके दिमाग में ऐसी बात आई है एक जानबूझ के भी कहता है वो पर याद रखिए भूल से कहने वाले की बात मैं कभी दुखी नहीं होना चाहिए यदि आप स्वीकार करते हैं अपने दोस्त को तो आपके दोस्त को वो बताएगा यदि नाराज हो जाते हैं वो दो दोष बताएगा तो एक गुण को भी दोष बताया जाएगा दो तो दोष बताएगा आपके सही और एक गुण को भी दोष बताने की कोशिश करेगा वो भूल से यदि आप सुनना नहीं चाहेंगे तो वो दोष दोष बताने की कोशिश कर रहा था वो आपके पास बताएगा ही नहीं कभी ये पद्धति होती है जो व्यक्ति अपने विषय में निर्भीक बना देता है व्यक्ति को कि आप मेरे दोष बताओ उसको दोष बताएगी दुनिया जो डराता है धमकाता है ऐसे पहले ऐसा कर जाता है उसको कोई दोष बताने के लिए तैयार नहीं होगा लड़ने वाला भले ही बता दे गाली देता हुआ लड़ने वाला तो आमने सामने लड़ते तब तो कुछ का कुछ कह जाए पर प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक सुधार की दृष्टि से दो सूत्रों नहीं बताएंगे लोग बंद कर देंगे कई लोग यूं तो कह देते हैं कि मेरे दोस्त बताया करो मेरे दोस्त बताया करो और बताते ही नाराज हो जाते हैं तो उसको दोष नहीं बताएगा व्यक्ति यदि अपने दोष पूछने हो अपने दोष देखने हो तो दूसरे को खुली छूटी दो और कहो कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा और बिल्कुल अच्छी तरह बताइए आप आपके दोस्त बताते चले जाएंगे आपको दोषों का पता चलेगा एक भाग ऐसा होता है दोषों का व्यक्ति को स्वयं पता नहीं चलता व्यक्ति कुछ दोष ऐसे होते हैं उनको करता हुआ नहीं जानता पता नहीं चलता उसको जब दूसरे बताते हैं तो फिर उसको पता चल जाता तो व्यक्ति की शक्ति स्वयं शक्ति ऐसे आगे बढ़नी चाहिए अर्थात इतना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए यदि अज्ञानता से अथवा कहीं कहीं जानबूझ करके भी यदि हमारे दो ऊपर कोई मिथ्या आरोप लगा देवे तो उसको भी शांति से सुनो और अभ्यास करना पड़ता है एक घटना सुनाता हूं पहले सुनाई थी एक दिन ये माता ही आई थी वो अंदर सुनाई हुई वो तो एक माता जी वो गाली देती चली गई मैं हंसता चला गया वो सुनाई थी ना अंदर सुनाई थी ना अब एक बूढ़े की बात सुनाता हूं अच्छा मैं प्रयोग करता रहता हूं एक पचास वर्ष के लिए का बूढ़ा होगा दिल्ली में उसने प्रश्न पूछे कई मैंने उत्तर दे दिए जैसे मुझे आते थे उसके प्रतिकूल कोई बात आ गई होगी उत्तर में वो बूढ़ा जो था व्यक्ति बड़ा क्रोधित हुआ और कहेगा तू मूर्ख है तुझे कैसे नहीं आता जाता सामने बैठा था ना अर्जुन देव जी वहीं बैठे थे मेरे पास अच्छा मैंने कहा इसको क्रोध आ गया है और अब इसको कहना सुनना जो है कोई अच्छा नहीं होगा लड़ाई झगड़ा सा या कोई परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा मैंने झट से मौन धारण कर लिया जैसा वो उफान आया और वो कहता रहा मैं सुनता रहा ध्यान ही नहीं दिया जैसे मेरी बात ही नहीं हो रही थी इससे <laughs> ऐसा बना लिया मैंने अब दो चार मिनट जितना भी समय था वो जो कुछ कहना था कहता गया वो ये मैं सुनता गया वो सुनता क्या गया मैंने उसे उपेक्षा कर दी और वो बूढ़ा उठ के चला गया चला गया चला गया तो एक घंटा दो घंटा के लगभग आया वो वही बूटा और वो हाथ जोड़ने लगा पैर पकड़ने लगा मुझे गलती हो गई ये हो गया मतलब ऐसे प्रयोग करने पड़ते तो ऐसे जो प्रयोग नहीं करता वो अपने सूक्ष्म दोषों को जान करके दूर नहीं कर सकता इसलिए यदि दोषों से छूटना हो तो ये शैली अपनानी पड़ेगी आपको सबके बीच में स्वीकार करना पड़ेगा कोई ननु नच नहीं है किसी के सामने हां एक वर्ग ऐसा होता है दुनिया में वो जानबूझ के किसी व्यक्ति का खलवाड़ उड़ाता है जानबूझ के उसका खंडन करता है जानबूझ के उसको मूर्ख सिद्ध करता है जो दोष बताता वही मूर्ख आप में से कोई ये कह देवे स्वामी जी हां रात को मैं, मैं, मुझे सुपन आया और मैंने किसी की चोरी कर ली देखिए बड़ा पागल है ये <laughs> ये कि ये बड़ा मूर्ख है ये भी कोई बताने की बात थी सबके बीच में तो उसकी हंसी उड़ाएंगे लोग बिल्कुल ऐसा ही होता अच्छा बुद्धिमान जो होते हैं समझदार होते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है सुपन की भी बुराई को बता दिया इसने बहुत अच्छा है तो इसलिए अपने दोषों के संबंध में एक बात ये याद रखिए कितना ही सूक्ष्म दोष हो मानसिक हो वाचनिक हो उसका अत्यंत विरोध करिए आप दिन रात लड़ाई लड़िए उसके साथ यदि उससे संधि कर ली यदि थोड़ा सा भी प्यार कर लिया तो 80 वर्ष में भी नहीं छूटेगा वही दोष थोड़ा सा प्रेम यदि आपने उसको दे दिया फिर नहीं छूटेगा आगे मैंने बात बताई कई स्तर